अल्लाह ताला वो है जिसने तुम्हें कमज़ोरी की हालत में पैदा किया फिर उस कमज़ोरी के बाद तवानाई दी फिर उस तवानाई के बाद कमज़ोरी और बुढ़ापा दिया जो चाहता है पैदा करता है वो सबसे पूरा वाकिफ और सब पर पूरा कादिर है